पेटी में कहती कौन है वो तो है तो तो नाम है उसका पेशा में हाँ, पेशा में से समझ बाकी पेशा नहीं करती गाने गाने का काम कोई फर्क नहीं पड़ता है हम तो मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसा काम है करवे तो, तो नहीं करे क्यों आप इतनी व्यवस्था कर देंगे कि जिसकी वजह से उसको इस तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े तो- आदमी तो अपनी मजबूरी से करता है काम कोई कोई शौक से थोड़ी करता है मैं उसकी तलाक आज मिली है वो कल मैं आप रात में सो कह रहा था बाबा जी तुम्हें करो इसकी तो ये अच्छी गाती है तुम आप लोग सब गाने में समझते करते हो और आज तारीफ करते हो वहाँ मेरे पास गाय पता नहीं वो आज भी आज ही मेरे पास गाय हाँ इसीलिए हम लेट हो गए थे थोड़ा सा लेट अच्छा, तो गए हम भी गाए थे उसको बताया था भाई अभी तो करते हैं अपन व्यवस्था अभी वही होंगे ना हाँ तो अपन मैं देखे अभी इनसे शेल से बात कर लेता हूँ और अपने इधर भी बात कर लेते हैं नहीं तो अपन चल के गाड़ी वाड़ी कर करा के या कोई स्कूटर स्कूटर रिक्शे रिक्शे लग करके तो चल चलते हैं दूर है तुम्हारे बस जहाँ हमें उसी पंद्रह नंबर में है वो हाँ। अपने कमरे को बुला लेंगे किसी के एक मिनट मुझको मनोज जी के आना पड़ेगा नरोगढ़ में जो है क्या नाम उसको भात के लिए जो वो फरमा रहे थे उस वक्त वो कहती है भात भात में है ये चीज़ में ये अली बख्श ने जो बनाई है अच्छा। वो किस तरह से बनाई है उन्होंने वो कहते हैं जिस वक्त इनका भाई नहीं आया है उस वक्त कहती हूँ सुल्तान नहीं पहले उस सुन ले रहे मैं जो बोल रहा हूँ कुछ और बोल रहा हूँ आप कुछ और कह रहे हैं अच्छा। वो क्या कहती है तो पहले यहाँ से जो है नाई अं, जाते थे और वो जो है उनको निमंत्रण देकर आते थे वो फलान तो सुखदेवा नाई को भेजती है वो कहती है जल्दी जाइए रतलाम हो सुखदेवा बीरा तू जल्दी जा रतलाम रतबन राजा के यहाँ भेज रही थी उसको जल्दी जा रतलाम बेगो बेगो जइयो बीरा मत करियो विश्राम थारी बाई बाट निहारे रोज सुबह और श्याम सुखदेवा बीरा तू जल्दी जा रतलाम हाँ जल जल्दी जइये रतलाम सुखदेवा बीरा जल्दी जा रतलाम बेगो बेगो जइयो बीराम करियो विश्राम पतियां दी जो रत बरन को आए पूरन हो सब काम सुख देवा बीरा जल्दी जा रतलाम माता से हर मिलनो कहियो भावज से परनाम माता से हर मिलनो कहियो भावज से परनाम कह अली बख्शी सी भात की आय राम लंघावे पार सुख देवा बीरा जल्दी जा रथ तो इसकी बाज अलग है कहन अलग है आवाज़ बहुत चाहिए इस तरह की बात है अलीबख्श की परवाना भी आता है जी हाँ परवाने क्या धुन है हाँ ये परवाना मतलब लेके जाता है ये भात की रागनी है ये, परवाना हाँ नाई लेके जाता है एक परवाना और भी तो है जी दूध के परवाने हैं जी एक तो परवाना ये भात का परवाना है जी एक और जगह है શા ભરવાનું નથી આવે जिसमें आ जाता है जी तो ऐसा तो बहुत से हैं कृष्ण कृष्ण लीला कृष्ण लीला सबसे मशहूर ख्याल कोई एक दस बीस पचास सौ एक जिस वक्त राधिका जी को जो है ख्याल आ जाता है तो वो सपने की बात कहती है सखियन में आवे लाज कहूँ मोहन की बतिया कहूँ नंद लाला की बतिया रात पलंग अपने पर सोई सपने में बंसी ने मोही बंसी बैरन भई रात मेरी धड़कत है छतिया कहूं मन मोहन की बतिया फिर क्या कहते हैं दूसरे नंबर पर हाँ। सपने में देखे नंद लाला गल सोए बेजंती माला सपने में देखे न लाला गलसो में बेजंती माला मेरे हंस हंस लिपटे अंग गले बिच घेरी गल बैया कहूँ मन मोहन की बतिया सखियन में आवे लाज कहू मन मोहन की बतिया कहें अली बख्श सुनो ब्रज नारी दर्शन देंगे कृष्ण मुरारी कहें अली बख्श सुन ब्रज नारी दर्शन देंगे कृष्ण मुरारी तेरे सब संकट कट जाए श्याम संग बीतेगी रतियां कहूँ मन मोहन की बतिया सखियन में आवे लाज कहू मन मोहन की हाँ, तो हाँ? हाँ? उसने अपनी काया पर इतनी इतनी चीज बनाई है लिवक्ष ने जो अनमोल वो क्या कहते हैं दमनदारी देश की वही नल्ला पर जाए इसका वर्णन बहुत अलग अलग है दमनदारी देश की बही नलना दे आशा तृष्णा दो माजाई जो घर में घाल लई ये घर है आशा और तृष्णा है आशा तृष्णा दो माजाई घर में घाल लई कहे राव रतबरण तेरी मम इमताने वो कर दिया खसम कई नलना बरजे दमनदारी देश की बही जम जल्लाद चढ़े जिस घड़ी लेखा खोल बही पन्ने पन्ने पर लिख रही से बोले सही सही दमनदारी देश की बही नलना बरजे लास्ट के नंबर पर कहते हैं कहें अली बख्श हाँ कहें अली बख्श इस मन मंदिर की कर लो कली नई नहीं गई बुढ़ा पाया भी ये सारी भीत नहीं इस तरह का वर्णन नहीं कहे जाते साहब उस उस्ताद के ये, ये क्या क्या धुन इसकी हम्म देश की बही देश की बही नल ना बरूजे दमन दादी देश की वही नद हाँ क्या तेरा दादरा चीज है हाँ। इसलिए आपने मना ही आशा तृष्णा दो माजाई जो घर में घाल लई आशा तृष्णा तो मौजाई जो घर में घाल लई कहे राव रत बरन तेरी ममता ने कर लिए खसम कई हो कई नल नावर जे दमन दारी देश की बही नल हाँ। ये इसकी मेरे गांव खैर खास खैरतल जी हाँ जी हाँ मल्हार दादरा ठुमरी ठुमरी ठुमरी की कोई चीज देखी अभी पता और त्रिशूल जो कभी ख्यालों में भी नहीं सुनी होगी बहुत से आदमी त्रिशूल हाँ चेती दोहा अच्छा जिस तरह के घंटेश्वर महादेव जी हैं हम्म। उनके बारे में कहा है लिबक्स जी ने हम्म, हम्म। घंटे सुर घट में बसूं तो घंटन की गनगोर अब सुबह शाम दर्शन करूं तेरे ये दास पहुंच गए दौर यह इसका सिंह उद्देश्य कहते हैं इस सिंह को फिर वो क्या कहते हैं दुहा अब ये दुहा है अजी तेरे ये गुन गावतू ऐतिर गए नाथ जावे गोरख नाथ मछंदर अब तुम बने जोग की खान हाँ तुम बने भी जोग की अय खान ज्ञान के तो कहियो आप समंदर अब शहर रिवाड़ी बीच में से बना है शिव का मंदिर सिमरू में घंटे सुरो महादेव दास के कवि ने आवे छे यानी अलीबश की ये दोहा है तो इसमें तमाशे हैं अलीबश के सारे इसी धुन में तो एक से एक आला तमाशा है कितने तमाशा बारह या तेरह अलीबश जी के हाँ। फसाना मुसलमान लफ्ज में तो फसाना अंजमन पहुंच मेरी प्यारी तेरे आशिक और लाचारी कृष्ण लीला नल बगदाओ नल चढ़ाओ दोनों अलग अलग है अलग नल बगदाव अलग है नल चढ़ाव अलग है भात अलग है निहाल दे अली की निहाल दे साहब आप एक एक लफ्ज सुनकर देखो निहाल दे और वो शिवदान सिंह का बारह मासी बारह मासी तो खर्ची बहुत बारह मासी तो बहुत बारे मस्त तो हजूर ऐसी हैं लगा महीना साड़ रहे मनमार सभी संसार छापते मंदिर सखियों ने सेज बिछाई महल के अंदर इस तरह की बारह मासी तो बहुत है बहुत लिखी जिस तरह से ये अब इस तरह की तो अब मैं भी इस बात को कहता हूँ दो चीज दो चार चीज हमें बना देते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी जो उस्ताद हैं वो तो उस्ताद हैं जिस तरह कभी हमारी जैसी बनाई हुई चीज़ है माफ करना मेरी गलती को तो सब <laughs> सुना तो उसने बुरी है पर त्रिया की यारी हो बुरी है पर त्रिया की यारी कटा दे चौड़े हत्यारी आज कोई यार मर्द होता मेरे संग जान आज देता यानी यारी कर किसी मर्द से करे जान बरोबर खोबता और पहले करता वार हूँ इस घड़ी लाचार मेरे ये पास नहीं हथियार फंसा हूँ अजान में आके कैद में दुख भोगूं जाके भोगूंगा दुख कैद में मर जाऊं में आज गद्दी है सोनी अख्तर की अब कौन करेगा राज मरेगी ये रो रो महतारी बुरी है पर त्रिया की यारी मर्द को नीचा दिखलाती मरे दो जगने ले जाती दो जगने ले जाएगी तज त्रिया को साथ काटे शीस सगा ख्वामिद का ये औरत बद जात बने फिर सतवंती नारी बुरी है पर त्रिया की यारी त्रिया ने मोह मुनि ज्ञानी मराए रामन अभिमानी रामन अभिमानी मरे लगा चंद के दाग कह दीना दिल से ताग छुरी ये जहर बुझी सारी हो बुरी है पर तिरिया की यारी कटा दे चौड़े हत्यारी एक चीज तो बनाई जिस तरह का औरत के रूप से बनाई है एक चीज कोई औरत की तारीफ की भी बनाई गई तो बनाई है सब सुनना इसमें आय चमक पड़ा में नींद से ढलती माँ झन रात सुपना में देखी परी अभी करे थी बात ये उनके वर्णन की बनाई है देखी एक सुपने में दिल जान देखी एक सुपने में दिल जान मिले बिन बचे ना मेरे प्राण ओढ़ रही साड़ी अनमोली हो ओढ़ रही साड़ी अनमोली बोल रही कोयल की बोली हो महल में डोली मेरे साथ में लिए हाथ में हाथ आंख खुली दिखी नहीं सो ये अचरज की सी बात इश्क में बना गई खपगान देखी एक सपने में दिल जान जुल्फ दो लटके थी काली हो जुल्फ दो लटके थी काली बनी तो नागन डसने वाली कान में सोने की वाली उष्ण में चंदा उजियाली चंदा उजियाली बनी प्यारी तू यल बेली हूर बिलोरी चुरिया हाथन में प्यारे तो वल बेली हूर चमका हीरा कनी नाख में ये यखियन मोती नूर हो मुख में ये चाबे नागर पान देखी एक सपने में दिल जान कंठ में कंठी जो बंदार वहां पर बाजू करे बहार अपने की कीमत बेसुमार थी अछन पछेली डार बिलोरी चुरिया हाथन में ये पहुंची करे है कमाल रची हाथों मेहंदी दरमियान देखिए सुपने में दिल जान पैर में पायल झुनकारी तोड़िया छैल करे न्यारे तगड़ी तो प्यारी लगे चोटी फूंदेदार कह दीना जब मिले सित्रिया हो दलदर पार इश्क में बना गई खफगान देखिए सपने में दिल ये तो आपने उन्होंने पूछा वो उस बात जवाब नहीं है क्या ठीक है उनका जवाब यही है सुंदरता है उसके बुखार क्या सपने में आई और ऐसी तो वह क्या है वो रावण को मरा देती है कर देती है हाँ। वैसे कोई अच्छा, औरत ने किसी आदमी को बना कोई औरत अच्छा काम भी कर दिया उसके बाद खाली खूबसूरती है मतलब पलंग के ही काम किए <laughs> जी ऐसा ये तो दोनों मेल हैं तो जिस तरह कृष्ण भगवान के सामने महादेव जी ने कहा है ये प्रश्न रखा है हम्म। और उन्होंने ये कहा है अकबर तूने भस्मासुर को कैसे मार दिया भस्मासुर का मारने वाले संसार में पैदा नहीं हुआ तुमने कैसे मार दिया जो वो कहता है ई औगुण भरी तो या की कैसी बाह बचे सिताबी सब तरे जब रब की वो पना ये सिताबी की बनाई हुई चीज है जो मैं आप बोल रहे हूँ तो वो क्या कहते हैं कि त्रिया की प्रतीत करो मुद को ही यति और सौ शंकर को छोड़ मिली भस्मागर से थी अहल्ला मिली चंद से सीता मीठी कार कीचक मिली द्रौपदा चारों ही नार कुनार चारों ही नार कुनार कुनार तो अब माता जी क्या कहती हैं गौरा कि हम चारू चातर नार को पात्र कैसे कीनी और भस्माकर को सेवा आप सौ शंकर दी हमने शंकर से नहीं कहा था किसको सेवा दे दे आपने दी हम चारू चातर नार को पात्र कैसे कीनी और भस्माकर को सेवा आप सौ शंकर दीनी भिक्षा लाई भेद को सीता जी को ये मालूम नहीं थी कि ये रावण है उनको ये था कि ये जोगी है भिक्षा लेकर आई भिक्षा लाई भेद को नुकर मेठी कार की मारो भी उन्हें हम चारों चातर मार तो इस तरह की इनका आपस के बखान जो है आपस की बातें तो है और वो तो साहब ऐसा जितना जितना लक्षण मर्द में उतने औरत में भी है अगर वो तो है दादा यहाँ मेवात में महादेव को छल नाम की बात है इसमें एक किस्सा आता है कि एक बार तो मतलब महादेव पार्वती को छल लेते हैं विष बना लेते हैं पार्वती और मोची को देख कर और राजी पहुंच जाती है जाकर कहने लगी गौरा हाँ झुकास जो है मोची बहुत जोर पाए कैसे मोची बोले मोची की अजब बात तो अगाड़ी गाड़ी जो है बारपती और बीच पीछे ये पहुंच गई मोची को देख कर ये बस मोहताज हो जाती है तो क्या कहती कि मोची कारे छोकरा कह दे इनको मोल मुंह मांगा तो दाम दो झूठ रती मत बोल कि झूठ मत बोल क्या मोल इनको बोल महादेव जी ने कहने लगा ये छोरा छोरा कर कभी और कुछ ना कह उठे <laughs> तो शिव बोले कहते हैं कि खबरदार ऐसे बोलो जिस तरह से बोलने की बात हुई तुमको तमीज नहीं बोलने की बोलो जी मेरे मुंह से निकल गई इनको मोल कह दे कि इनको मोल न कहा तो शिव भोले मोल कहते हैं जूती इनका जड़ा लीलम और खुरा जड़े सच्चा समूती और सब नगरी को मोल महल की करो भरोती ये जोड़ी बहने घड़ी जड़ा इनमें लीलम और फुखराज तू पहरे की काम नहीं जो चले हमारे साथ सबसे बड़ा मोल तो इसको ये है कि हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज लगे हुए यहाँ बाकी तेरी सारी नगरी को मोल है महल की भरोती कर लू तब है ले जा और एक छोटे से मोल ये जो हमारे साथ चले वो पहले तो महादेव जी ने जब ये बात कही तो गौरा के मुंह में पानी आ जाए और कहने लगी पार्वती जी बोलो देखो ऐसा है मोची मैं नू गई और नू आई तो ये जाती और पहुंची और जाती अपनी माँ से कहने लगी माँ नू कहा मैं अब जा रही हूँ सासरा बेटी कहाँ जाएगी कैलाश शिव शंकर के पास बोले बेटी दिन को छिपाना होगा तो कहाँ जाएगी बोले नहीं मैं जरूर जाऊंगी क्यों जाएगी सुबह जाना हाँ, बोले नहीं वहाँ आई ही कॉल कर यहाँ बिना बीत का साथ हाँ। बाबा का कैलाश में मेरी शंकर जो है बाट कि वहाँ मेरी महादेव जी बाट देख रहे बहुत बुरा आदमी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ताड़ देगा तो जा सहेली पहुंचाने के लिए जो उतर कराई जहलीन से कहने लगी बोलो वापस जाओ तुम सारे बोलो बहन गांव से बाहर निकाले आओ ये रीत है हमारे यहाँ बोल नहीं तुम जाओ तुम्हारा बच्चा रोता आप गौरा जी चल रही है गौरा वहां से चली छुट्टी मोची पर धाई और आई बीच बाजार सैन मोची को मारी अब सैन मारी और आगे आगे जा बीच पीछे भोलेनाथ जब शहर से बाहर हुआ आगे आगे गौर जा तो पीछे मोची जाए शहर से बाहर हुआ तीन तो दिया नाद बजाए जब भोलेनाथ ने जब नाद बजाया तो पीछे मुड़ के गौर से देखे तो वही श्याम डेढ़ में लटक रहे हैं और वही अब शिव शंकर को देख कर रही है हैरान हो जाती है जो ये कहती है बोलो महाराज मैं तो पहचान की थी आप बोलो <laughs> तू मेरा रही काम की ना नेहे तो तोड़ा मोसे <laughs> और मोची अच्छो ढूंढो छेल ने है जब जोड़ा वासे बोलो तो मेरा काम करो हाँ कोई नहीं तो मोची के ना अब घर की रही ना घाट की रही अब ना कैलाश में जा सके और ना गौर जा सके तो बरोबर की शक्ति ही कोई मामूली बात तो नहीं थी एक तरफ को महादेव की शक्ति थी एक तरफ और जगह शक्ति दोनों की शक्ति बरोबर थी तो ये कैलाश तो चल देते हैं महादेव जी तो और अब इसको संग बहुत बड़ा शोच आ गया भारती क्या कहती है इतनी सुनकर बात इतनी सुनकर बात घात दिल भीतर धर ली अब यहाँ पेट में घात रख ली भारती जी इतनी सुनकर बात घात दिल भीतर धर ली और धोने पानी बीन बीच बीणती डोले लकड़ी अब द्रोणा के चारों में लकड़ी भी दौड़ रही है रही शिव शंकर वहाँ पहुंचे इनसे पहले पहुंच गई कैलाश भील निपट गई वहाँ जो है भील निपट गए अब डोल थे तो ये चारों मेरे को <laughs> करना ये क्या बोला अब महादेव जी कहने लगा बोले यार गौरा तेरे हाथ से गई अब तेरा धुआं पानी कौन करेगा ना तो भीलनी की बोला आवाज है भीलनी भीलनी भीलनी कहने लगी क्या बात है बोलो देव तेरो मर को भील और मेरी मर्गी की गौर जा एक काम कर अपन झाड़ फेरा करना <laughs> बोलो मैं तेरी निष्पत नहीं बोलो क्यों डर लगे तेरे से क्यों कि जो तेरे भेद लटक रहे सांप लटक रहे आप ततैया बिच्छू मैं तेरे को नहीं दे बड़ा डर लगे तो फिर कोई तेरे रहा भी कि ये उतार कर भेद दूर कर मैं आज ही तेरे रह जाऊं बोले मेरी बारह हजार वर्ष की तपस्या में कैसे इसको मैं नहीं हटा बोलो तू तेरे रे मैं मेरे रे जबरदस्ती करा जल्दी को फिर आवाज मारी कि भाई सियाणो कार कोई भाव बुला आवाज देकर बुला लेता है झोला में से लेर कतर निसिम ने काढ़ी और इल्ले की ना नार फिरा कि आडी आडी नुकु ये कैंची ले और काट दे और महाराज मैं नहीं काटू मुझे पहले डर लग रहा आप काट महादेव जी ने सोची भेद बहुत यो ना काटे तो काट नहीं पड़ेगी दो एक क्रिया तेरी ये बात यानी शंकर महाराज तो आप जो है आप ही उतार दो शंकर महाराज उतार देते हैं उतार कर भेद और झूमपुर से उतार कर धर दे थोड़ा उतार ली तो लेकर न भील नहीं न फट रही समेट चीनी वो सारी बगल में दबाई तो अब गौर जाकर बदल कर कहती है बोले महादेव जी ने कहा हाँ, कि बोले गौर जा का नहीं तो बहुत अपने पिया तो बोलो महाराज नू कहे ही गौर जाए कि तू बार पर उसकी निंद्रा भर तो बताया बोलो हाँ हाँ ये तो बात सही है कहते महाराज मैं तेरे ना क्यों कि नू ना रहो ना तू बार बस निंद्रा भरा मुझको डर लगे मैं तेरे कैसे रहूंगी मैं तेरे एक मिनट में ना रहूंगी तो कैसे रहा भी तो गौर तक तो लिया आप दोनों में रहेंगे यहाँ दोनों बैठे रहे करेंगे भाई बैठे शंकर बोले तो बड़ी बुरी बात हुई देखते रहो कहो कहो मैंने सारो कर दी अब तो मान तो सही बोलना ही गलत बात तो अच्छा महादेव जी की कौड़ी भर करना गुफा में लेके चलते जो इसकी बहुत औंडी गुफा थी महादेव जी जहाँ शंकर भगवान बैठकर तपस्या करते जिसने बारह हजार बार तपस्या करी उसकी महादेव जी क्या कहते हैं पहल मचर की नार ले चलो कौड़ी भर के और फिर मचल की नार ले चलो कंधे धर के जब कंधा पे उठा के धर ली गौर जाकू तो गौर जन के छोड़ दे ऐसी चीख मारूंगी छत्तीस करोड़ तो भेड़ा कर लूंगी जबरदस्ती कराओ मैं नारा उतरे बस उतार के ऊपर से फटक दी और कनपटी का हाथ गाकर बैठ गए क्या कहते महादेव जी करण कहे हो बंदगी लैन कहे हो देश दोनों खोदी जोग नाते ने पूंगी और आदेश यानी शंकर भगवान ने वहां अपनी पूंगी आदेश सारी खोदी बारह हजार वर्ष की तपस्या गई भेज गए लंका बनाई ही तो रावण को दे दी संकड़ इनके पास क्या रहेगा कुछ भी तपस्या गई सब कुछ गया अभी निगाह उठाकर देखता है कि अगर गौरजा तो को मिल गई तो बाघ में मिल यहाँ निगाह उठाई और गौरजा ने देखी क्या बिल्कुल बाघ में जाएगा पहचान किसकी निगाह निगाह को पहचान जाती है तो महादेव जी खड़ा चलने लगा तीन सौ पांच सौ रुपये बनकर माता जी पहले ही पहुंच जाती है और बाघ में बैठ बैठी हम्म। तो शंकर भगवान पहुंचे वहां गौर जा गौर जा जावत मेरे देख ऐसा है वहां छत्तीस करोड़ देवता भेड़ा है कैलाश में बोलो क्योंकि मैं आज अपना टुकड़ा कर रही हूं तो हमारे महाराज आज भी जो जोगी समाज में चाहे हिंदू है या मुसलमान है जो जोगी समाज में अगर टुकड़ा होता है तो चार छाक लगती है भंडारा बोलते हैं हम उनको शिव भोले कहते हैं कि बोलो भंडारा है आज टुकड़ा लग रहा है टुकड़ा और आप चलिए टुकड़ा बोले नहीं मैंने जो क्या कहता खट दर्शन भेड़ा हुआ तो तेरी लग रही आस घट दर्शन भेड़ा हुआ तो तेरी लग रही आस टुकड़ो मेरे जब लगे गौरा चलो जब हो मेरी जग तो मेरी यज्ञ नहीं हो तो गौरा जी क्या कहती है महादेव जी ना वो गाड़ी हमारी जा रही भर भर के माल की बोल हाँ हमारी थी तो शंकर भगवान से कहती है कि ये भेद कहाँ गए भेद दिखे नहीं बोलो छत्तीस करोड़ देवता ने ये कहा कि बोलो ए भोलेनाथ भेद उतार दो जब हम तो आज भी ये बातचीत है कि हमारे जो सुंडमुंड जो रहते हैं लोग वो जटम जट रहता है कोई सुंडमुंड रहता है सुंडमुंड यहाँ से जो सुंडमुंड की बातें जो आई है जो सुंडमुंड यहाँ से गोट मुंड जो बनाकर रखते हैं वो बाल नहीं करते और हमारे यहाँ जटम जट रहती है वो जटम जट रहता है कोई इस तरह से क्या कहते हैं महादेव जी कि उन्होंने कहा कि तेरी नाड़ जो है पतली हो गई तो भी क्या कहती है गोवर्धन थैला में से लेकर सब सौदा सामने रखते हो इले की ना कतरनी इले या को ले पिछाण तेने मेरो मन छड़ो तेरी मैंने करी तपस्या हाण महादेव जी देख कर हैरान हो जाते बोलो गौरजा बहुत बुरी हुई है मेरी बारह हजार बस की तपस्या तो मिल में बोलो महाराज तेने मेरो मन छल लियो मैं इस जहां में जो कि दुनिया मेरी बनाई हुई उस दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी मैं तुमको तो बरोबर तो कर लू अब क्या कहता है सिताबी शाहिर की बनाई हुई है हजूर ये हम्म, हाँ ये जहार की बात नहीं है तो क्या कहते हैं सिताबी शाहिर सिताबी शाहिर कहते हैं दोनों होगा एक सा घटकी दोनों की है सीत निजावत की बनाई हुई निजावत था यहाँ का कारोली का दोनों होगा एक सा घटकी दोनों की है सीत कहे निजावत रब से देखी है ये परचा की पति निजामत भी रामायण बनाई हुई है निजामत की रामायण बनाई हुई बहुत अच्छा शायर हुआ है हाँ। बाबा जी रामायण के जो जब लंका लंका में चढ़ते हैं ना अब इन चीजों को जो मैं कह रहा हूँ आप तुम्हारे सामने ऐसा कोई गवैया सामने बैठकर नहीं कह सकता कैसे तोबा है मालिक यानी मैं इनको हरियाणा में कह दूं हिंदू हूँ रामायण के धुन में कह दू आला के धुन में कवा लो मेवा के धुन में कवा है मेवा मेवा रामायण की धुन जैसे चौपाई पर ये तो छंद तो रामायण सुनो सभी अभी सुनो दुआदानी में रामायण होती नहीं मतलब गाने की शैली तो रहेगी हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तो आप सही कह रहे हैं में मात्राएं हैं दोहे में ग्यारह तेरह है नहीं चौपाई में सोलह सोलह है चौबीस थोड़ी फिर क्या बात है सोलह चौबीस चौबीस की भी चौपाई होती है चौबीस की चौपाई वो हम तो सोलह वाली सी सोलह में तो सोलह और आठ शंकर व्यापो सोच लटा पहले दो चढ़ी भेष मोचरी हादक बनानी मैं तो ज्यादा कर दू यति यति को ये तो गाने वाले की इच्छा है तो, तो गाना वाला दो, दो, में कंठा है ना दो दो द्विपदी भी है चतुष्पदी भी है और त्रिपदी भी है मतलब ऊपर में यति नहीं अच्छा। है नीचे में यति है ऊपर में यति है नीचे में यति नहीं है त्रिपति हो जाएगा त्रिपति तो होगा तो उसके फिर तुप दूसरे में नहीं और इस तरह मतलब दोहे का उल्टा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा आप किसी से ही आप पूछ लीजिए किसी से भी बिना तो आप किसी से पूछ लो बच्चा किसी बच्चे से पूछ लो हर आदमी की जबान का होगा हाँ नहीं आप कहो दीनानाथ जो ज्ञान बस्ती मेरा बहुत बड़ा मोहल्ला है मेरे परिवार मेरे परिवार का बड़ा साहिल साहब को भी आपको भूत लोग मिल जाएंगे अच्छा। मकान का पता हो जी जल्दी पहुंच हाँ। और भी कोई नहीं धर्मशाला के पास धर्मशाला पर रहता हूँ मोटलाम की धर्मशाला कन्या पाठ हाँ, नहीं होती तो मुझे चलना हाँ, कौन चलना चलना 哦，那很精彩，大家看得多。 और तुम भी धीरे रखना थोड़ा आवाज बहुत ज्यादा नहीं है